नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मन को श्वास पर केंद्रित करें धीमे लंबे श्वास मेरे साथ तीन बार ओम का उच्चारण कीजिए स्वर मिला के मंद ध्वनि से फिर गीतिका को एक बार पहले मैं अकेला बोलूंगा दूसरी बार आप चाहें तो दोहरा सकते हैं मन में प्रभु का स्मरण श्वास भरिए Oh. का उद्धार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो भंवर में है नैया इसे पार कर दो भंवर में है नैया इसे पार कर दो मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे वश में मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे वश में मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो मेरे मन पे मेरा ही अधिकार पार कर दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने न पाए कोई को इसमें रहने न पाए कोई खोट इसमें रहने न पाए कोई खोट इसमें रहने उपस्थित शिविरार्थी महानुभाव मैं सोचता हूं कि कल की अपेक्षा आपका आज का दिन अधिक अच्छा बीता होगा जिनका कल की अपेक्षा आज अच्छा दिन बीता है नियम अनुशासन के पालन की दृष्टि से और आंतरिक सुख शांति संतोष एकाग्रता की दृष्टि से तो कल की अपेक्षा जिनका अच्छा रहा हो तो कृपया हाथ खड़ा करें ठीक है अच्छी बात है यदि हम थोड़े भी जागरूक हैं गंभीर हैं भावना है कि मैं अध्यात्म में चलूंगा मुझे आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है योग के मार्ग पर चलना है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना है तो प्रतिदिन व्यक्ति को आपको शिविर में अपने में सुधार और सुधार अवश्य लगेगा कोई अतिरिक्त विशेष घटना हो गई हो तो एक अलग बात है नहीं तो जैसा सामान्य शिविर चल रहा है कोई आपको बाधा नहीं है और आप भावना लेकर के सोए हैं सुबह उठते ही आपकी भावना है कि आज का दिन मैं और अच्छा बिताऊंगा जो बातें पिछले दिन मैं नहीं कर पाया उनमें से कुछ को और करूंगा तो अच्छा ही जाएगा कल का और अच्छा होगा कुछ बातें आप नए नए आते हैं नई नई स्थिति भोजन नए लोग सामंजस्य में कुछ किसी किसी को समय लगता है तालमेल नहीं बनता है मानसिक स्थिति उतनी नहीं बन पाती लेकिन जब हम थोड़े व्यवस्थित हो जाते हैं अनुकूलन आ जाता है तो हमारा ध्यान शिविर पे अधिक आता है ये तो प्रारंभिक बाह्य चीजों पर ध्यान रहे जो पहली बार आए कैसे भवन है कैसी यज्ञशाला है कैसा बगीचा है कैसा आना सागर है यहाँ भोजन की व्यवस्था क्या है कौन लोग व्यवस्था कर रहे हैं ये सब बहुत सारे विचार रहते हैं उत्सुकता रहती है हम जानते रहते हैं और इसका परिणाम ये निकलता है कि प्रारंभ में हम उतने गंभीर होके ना तो सुन पाते हैं ना उस पर विचार पाते हैं कक्षाओं के अतिरिक्त जो समय आपके पास बचता है जो कि आपके अपने चिंतन विचार के लिए जुगाली के लिए वो समय नहीं मिल पाएगा और शिविर का आनंद और लाभ तभी है जब कक्षा के बाद के समय में चाहे आप भ्रमण कर रहे हो तो बीच के पंद्रह मिनट हैं थोड़ा घूमे पानी पिया लघु शंका के लिए गए विश्राम का समय है उस समय जब भी अकेले का समय कक्षाओं में तो कक्षा का विषय चलेगा और उसको अच्छी तरह सुनना समझना चाहिए लेकिन जो भी बाकी का समय उस समय जो व्यक्ति विचारता है क्या बताया गया क्या चीज मेरे जीवन से जुड़ी मेरी किस समस्या का समाधान हुआ कोई नया बिंदु मिला जिस पर मुझे विचार करना चाहिए अभी तक तो ये ओझल था मेरे से मैंने सोचा ही नहीं ध्यान ही नहीं गया इस बिंदु पे ऐसे जो आपका बीच का समय है जो व्यक्ति उस समय ये करता है उसको लाभ लगेगा अच्छा आप में से ऐसे कोई हो सज्जन जिनको कल की अपेक्षा आज अच्छा नहीं रहा हो ब्रह्मचारी लोग बैठ जाइए अभी एक दो ठीक है नीचे कुछ तो सामान्य बाधाएं होती हैं स्वास्थ्य की कोई बाधा हो गई नींद नहीं आई भोजन अनुकूल नहीं हुआ अथवा कोई छोटी मोटी बात हो गई उसको छोड़ करके आप में से आज किन्होंने पूरी तरह मौन का पालन किया हाथ खड़ा कीजिए बहुत अच्छा कल की अपेक्षा तो मुझको दुगने हाथ लग रहे पूरी तरह पालन किया ठीक है मौन के पालन में हमें अपने लिए समय मिलता है बात समय की है और दूसरों से बातचीत के समय बातचीत करने में दूसरी वृत्तियां भी उठती हैं संबंधित किसी भी विषय पर वैसे ही दिनचर्या व्यस्त है इतना कुछ आपको सुनने को मिल रहा है वो कहें कि खाने को मिल रहा है अंदर उतारने को मिल रहा है उसका थोड़ा पाचन चरवण जुगाली समय तो चाहिए और बहुत से तो आगे यहां से जाने के बाद भी सप्ताह भर महीने भर तक भी करते रहेंगे जो लगनशील हैं जिन्होंने लिखा है समझा है उनको बहुत सामग्री मिलेगी मूल उद्देश्य क्या है आपको समय मिले आप अपने पे केंद्रित रहें मौन का एक मतलब है कि हम वाणी से नहीं बोल रहे हैं तो उसमें फिर कभी इच्छा हुई तो हम लिख करके भी बात कर सकते हैं भी मौन है मुख से नहीं बोलना है तो क्या कर, कर सकते हैं हम बात की तो इच्छा है कुछ पूछना है बताना है तो क्या कर सकते हैं हम लिख करके बात कर सकते हैं तो उसके लिए तो मना नहीं किया गया ना आपको अथवा इशारों में भी बात कर सकते हैं क्या उससे प्रयोजन सिद्ध तो होगा मौन का मौन की मूल भावना क्या है उसको देखें लिख करके देना वो जब बहुत आवश्यक हो कोई कार्य हो तो कहते हैं भाई लिख के दे दीजिए संकेत से बता दीजिए भोजन बांट रहे हैं संकेत से कर दिया लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम लिख करके बातचीत करें हम संकेतों से बातचीत करें अगर ये है तो फिर तो इससे ज्यादा अच्छा है कि बोल के बात कर ले किसमें अधिक मेहनत पड़ेगी लिख करके बातचीत करने में या बोल के बातचीत करने में किसमें अधिक मेहनत पड़ेगी लिख करके बातचीत करने में अधिक मेहनत पड़ेगी और संकेतों से बातचीत करने में सरलता है या बोल के बातचीत करने में सरलता है बोल के करने में सहज अभिव्यक्ति होती है तो जो ऐसा करते हो वो इसको भी छोड़ते हैं इसको मौन का भाग समझे दूसरी बात मौन हमारा अधिकतर कब टूटता है जब कोई साथ में होता है आप में से बहुत से लोग साथ साथ आए होंगे परिवार के गांव के परिचित तो एक इच्छा करती है हमारी कि साथ साथ कक्षा में जाएं, साथ साथ भोजन में जाएं, भोजन से लौटे तो साथ साथ साथ निभाना होता है कमरे से चले तो साथ साथ उपासना से निकले यज्ञशाला में जा रहे हैं तो साथ साथ मौन टूटने का एक कारण यह कि हम साथ साथ रहते हैं जो हमारे परिचित हैं तो कुछ भी होता है तो थोड़ा सा संकेत कर देते हैं मुंह से निकल जाता है बोल देते हैं और यदि नहीं भी बोल रहे हैं मौन है तो आगे से इसको ऐसा कीजिए अभ्यास कीजिए कि किसी के साथ नहीं चलेंगे भ्रमण करेंगे जैसे अकेले में करते हैं वहां तो दो मिलकर के नहीं अपने अकेले में करें आप अपने निवास स्थान से यहां तक आते हैं अकेले वो तो प्रतीक्षा करते हैं अच्छा ये भी तैयार हो रहे हैं साथ साथ चलेंगे वो कपड़े पहन रहे हैं आप आपका अपना निवृत्त हो गए आप आ जाइए वो अपने आप आ जाएंगे भोजन के बाद में बगीचे में बैठे हैं तो दो चार जने मिलकर के बैठ गए अच्छा लगता है ये भी छोड़ दीजिए वैसे तो दो चार बैठते हैं तो बात करते ही हैं और जैसे हम परमात्मा से निर्भय हो जाते हैं ऐसे और लोगों से भी निर्भय हो जाते हैं परमात्मा से डर लगता है क्या लगता है डर लोगों से तो लगता है लोगों से ज्यादा डर लगता है या भगवान से ज्यादा डर लगता है अनुभव में बोलने में तो ठीक है अनुभव में गलत कार्य करते हुए दो जने बात कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है कोई आचार्य नहीं है कोई कार्यकर्ता नहीं है तो बात कर लेते हैं लेकिन कोई दिखाई दे जाए तो एकदम से चुप होना क्यों क्योंकि ये जो दूसरे हैं ये तो परमात्मा से भी बड़े हैं और परमात्मा तो अपना है वो क्या कहे परमात्मा से क्या जो दंड देता तो दिखता नहीं है ये लोग तो टोकेंगे तो कौन बड़ा हुआ भगवान या आचार्य कार्यकर्ता व्यवस्थापक कौन बड़े हुए कौन बड़े हुए लेकिन कुछ को जैसे भगवान से डर नहीं लगता है वैसे औरों से भी डर नहीं लगता आना सागर को देखना है तो दो तीन जने साथ में मिलकर के देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है छत पे जाएंगे दिखाएंगे देखो वहां ये है वहां ये है ये चीजें आप 25 को कर लेना जब आपका मौन खुल जाएगा उसके बाद में कर लेना देख लेना आपको अवसर है तो एक तो अपने मौन को और व्यापक कर दीजिए मूल भावना रहनी चाहिए ऐसे ही साथ में उठना बैठना जाना चलना चलो मेरे को पानी पीने जाना है चलो साथ में नहीं अपने को पीना है पी के आ गए अकेले अकेले चले प्रयोजन आपको अधिक सोचने को मिलेगा आप अपने पे अधिक केंद्रित हो पाएंगे अपने आप को देख पाएंगे समझ पाएंगे और इस शिविर का लाभ अधिक उठा पाएंगे कईयों के मन में होता है कि जी कोई बात समझ में नहीं आई तो दूसरे से पूछते जी नहीं कक्षा की बात पूछ रहे थे हम नहीं एक शंका थी वो पूछ रहे थे देखिए उसके लिए तो आपके व्यवस्था कर रखी है आपको कक्षा की कोई बात समझ में नहीं आती है तो कक्षा में पूछ सकते हैं और नहीं तो पर्ची पे लिख के दे सकते हैं आपकी समस्या का समाधान यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा करें कर सकते हैं या तो जो आपके साथी हैं वो अधिक अच्छा कर सकते हैं और अगर अपने साथियों से चर्चा करनी भी है तो बाद में कीजिए शिविर के बाद में कीजिए जो चीज स्पष्ट नहीं हुई उसको लिख लीजिए अपने छोड़ दीजिए और बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई हैं उनको लीजिए उनको समझिए जो नहीं समझ में आई है बाद में समझिए कितने शिविरार्थी हैं जो कई कई बार आ चुके हैं आवृत्ति होती है बार बार समझते हैं हर बार कुछ नई तरह से समझ में आती है बात हाँ बहुत बुद्धिमान है तो एक बार में भी समझ जाएगा दो बार में समझ जाएगा नहीं तो कुछ समय भी लगता है तो कुछ कुछ भी बात हो भले ही कक्षा की बात हो शिविर की बात हो योग की बात हो परमात्मा की बात हो वेद की बात हो बात नहीं करनी अपने अच्छा आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने दिन भर या कुछ घंटे दृष्टि को नीचे रख करके चलने का प्रयास किया किसी को नहीं देखा बहुत बढ़िया ठीक है क्या कुछ अंतर लगा आपको इससे जिन्होंने इतनों हाथ खड़े किए कम से कम तो 40-50 होंगे क्या इससे कोई अंतर पड़ा आपको आप में से कोई हाथ खड़ा कीजिए कौन बताएंगे जो निसंकोच बता सकते हैं दीजिए इनको इधर इनको दीजिए एक इधर बहन जी को दीजिए जो अतिरिक्त लाभ लगाओ उसको बताइए कुछ कठिनाई हुई हो वो बताइए क्या परिवर्तन लगा तो और जी ठीक है बैठिए इनको दीजिए और कोई बोलना चाहते हैं इनको दीजिए बीच में अच्छा बैठिए फिर देखना शुरू कर दिया अच्छा जो आधे दिन नहीं देखा उसमें आपको कुछ लाभ लगा लगा फिर आधे दिन बाद में क्या ऐसा हो गया कि आपने देखना शुरू कर दिया ध्यान नहीं रहा अच्छा कुछ बेचैनी तो नहीं हो गई थी बैठी आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने शुरू किया हो ये और बड़ा जोर लगाओ भी देखना ही नहीं है किसी को लेकिन अंदर से इच्छा करे कि नहीं देखना है इसको कौन व्यक्ति चल रहा है ये ये कौन चप्पल रगड़ता हुआ चल रहा है ये कौन इधर थूकता हुआ चल रहा है ये कौन है जिसकी चाल इतनी अच्छी है ये कौन है जिसने सुगंध लगा रखी है कोई भी निमित्त हो सकता है इच्छा कर जाती कि देखें कौन है ये पीछे से तो ये लग रहे हैं आगे से कौन है चेहरा कौन है तो चेहरा देख लिया थोड़ा सा इच्छा करती है तो आप में से कौन कोई ऐसे हैं अगर बताने में संकोच नहीं हो तो बताइएगा कि आपने प्रयास तो किया लेकिन आपको कोई समस्या आई और उसके कारण से आपने फिर उसको छोड़ दिया या ढीला कर दिया पीछे दीजिए

तोड़ना पड़ा या तोड़ दिया तोड़ना पड़ा कुछ विवशता थी इच्छा तो थी कि करो तो क्यों तोड़ना पड़ा इच्छा करती है जोर पड़ता है हमारे संस्कार होते हैं बैठ जाइए संस्कार होते हैं ये संस्कारों का खेल है क्योंकि हमारी आदत ऐसी है इच्छा हो इसको देखा उसको देखा इसको देखा उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं बाल कैसे बना रखे हैं जूते कैसे पहन रखे हैं इत्यादि रुचि रहती है और देखा और समाप्त देखा और समाप्त बाजार में हम जाते हैं पचासों व्यक्तियों को सैकड़ों व्यक्तियों को देखते भी हैं और नहीं भी देखते कितने लोग आते जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता और कितने पचास साठ को देखते हैं देखा ठीक फिर दूसरे को देखा फिर तीसरे को देखा फिर चौथे को देखा इतना देख करके निकला क्या मिला क्या कुछ मन को शांति मिली मन का मनोरंजन हुआ मनोरंजन हुआ कुछ लाभ क्या मिला लेकिन आदत है अच्छा लगता है कोई अपने जैसा लगता है कोई सुंदर दिखता है कोई कुरूप दिखता है तो उसके प्रति भावना आ जाती है कुछ भी हो ये हम लेते रहते हैं करते रहते हैं और उसका संस्कार है हमारे पे बार बार करते हैं बचपन से करते रहे एक सामान्य सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था की दृष्टि से तो देखना होता है टकरा ना जाए कहा चलना है क्या करना है परमात्मा ने दी है इंद्रिया वो तो करना है लेकिन जब हम दूसरे को भिन्न ढंग से देखने लग जाते हैं जबकि कोई लेना देना नहीं कोई हमारे लिए उपयोगी नहीं बस जैसे कि हम खाली हैं न कोई गंभीर सोच चल रहा ना अंदर कोई भावना चल रही बस ऐसे ही चल रहे हैं तो चलो घूम रहे हैं कई जने तो सड़क के किनारे बैठ जाते हैं दुकान पे बैठ जाते हैं आते जातों को देखते रहते हैं मन ही नहीं लगता काम ही नहीं है उनके पास घर के बाहर बैठ जाते हैं खिड़की के पास बैठ जाते हैं पान की दुकान पे बैठ जाते हैं चाय की दुकान पे बैठ जाते हैं कितने लोग हैं तो कौन लोग बैठते हैं ऐसे और बस देखते रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है केवल मन बहलाने के लिए अकेले कमरे में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है हमारे पास तो काम है हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं बहुत काम है बहुत सारी चीजें विचारनी है बहुत सारे निर्णय करने हैं अपने अंदर के विकारों को धीरे धीरे क्षीण करना है तनु करना है संस्कारों को पकड़ना है बहुत काम है हमारे पास तो तो फालतू क्यों देखें आवश्यक है उतना देखें तो ये जो इच्छा कर जाती है इन्होंने कामना की कि मैं रखूंगा कुछ देर तक रहे बार बार इच्छा हुई बार बार इच्छा हुई और फिर देख लिया तो एक तो वो व्यक्ति हुए और और दूसरे भी बहुत से होंगे जिनके मन में इच्छा हुई होगी कि मैं रखूं लेकिन सोचा मैं रख नहीं पाऊंगा टूट जाएगा ऐसा भी सोचा होगा आप में से कईयों ने और देखो अच्छा किया मैंने नहीं रखा देखो इन्होंने रखा था और तोड़ दिया टूट गया ना देखो व्रत नहीं तोड़ना चाहिए व्रत तोड़ना बहुत बुरी बात है ऐसा भी सोच होता है नहीं इन्होंने भले ही इनका व्रत टूटा है कुछ घंटे दोपहर तक तो रखा ये तो लाभ मिलना ही है इनको और समझ में आएगा और आधे दिन रखा है तो अगले दिन और अच्छा रख सकते हैं कुछ दिनों बाद में पूरे दिन भी रख सकते हैं शुरुआत तो ऐसे ही होती है एक घंटा दो घंटा आधा दिन ऐसे ही शुरुआत होती है ये कोई दोष की बात नहीं है कि दोपहर तक रखा और फिर टूट गया मेरा कोई गिलानी नहीं कोई संकोच नहीं आधा दिन रखा ये सफलता है कुछ घंटे रखा ये सफलता है नहीं तो कुछ भी नहीं रख रहे थे हम तो बताए तो कोई खास नहीं मिलती अच्छा तो कौन हम्म। एक चक्कर तो लगा लिया नहीं नहीं हम्म। दूसरे चक्कर में बैठिए तो तो गाने वाले तो वही है जो प्रतिदिन गा रहे थे मेरी समस्या तो वही है बदले नहीं है देखिए इन्होंने निसंकोच कहा कोई घबराने की भी बात नहीं है यहां पर हम सब साधना के लिए बैठे हैं ये सबके साथ होता है ये इन्हीं के साथ नहीं है कि इन्होंने कोई दोष कर दिया कि गाने वालों को देखने की इच्छा कर गई ये सबके साथ अधिकांश के साथ में होता है और यहां संकोच भी नहीं करना है कि लज्जा आएगी देखेंगे भाई इनको देखने की इच्छा कर गई ब्रह्मचारी गा रहे थे उनको देखने की इच्छा कर गई ये संकोच नहीं करना है उन्होंने साहस किया बोलने का ये एक इंद्रियों की प्रवृत्ति है एक इंद्रिय के तरफ यदि हमारा आकर्षण होता है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी इंद्रिय भी काम करने लगी हमारी इच्छा कर जाएगी सुना अच्छा लगा देखने की भी इच्छा होगी अब अगर विश्लेषण करें मैं बहुत ज्यादा विश्लेषण होने लगे किसी को व्यक्तिगत होने लगे तो मैं नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है विश्लेषण इनके बहुत है अंदर जा करके लेकिन अभी हम इतने नहीं जा रहे वो कुछ व्यक्तिगत होते हैं सोचें इन्हीं का नहीं हम सबके साथ में ऐसा होता है या हुआ है होगा देखने से क्या मिल जाता सुना सुन रहे थे गीत संस्कृत का श्लोक चल रहा है अच्छा है ये तो संस्कृत के श्लोकों के अर्थ भी जानती हैं गुरुकुल की स्नातिका है अर्थ भी आ रहा है देखने से क्या मिलेगा ये आत्मनिरीक्षण की बात है कि मैं क्यों देखना चाहती थी और मान लो देख लिया और आपने देख भी लिया देखिए विचार चलते हैं सबके एक चक्कर लगाते हुए चला कि नहीं देखना है नहीं देखना है लेकिन फिर नहीं रहा गया देख लिया उस देखने से क्या हुआ आप अगर बता सकती हैं तो बताइए नहीं तो मैं संभावना में बात करता हूं देखने से हुआ क्या एक उदाहरण है ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपके बीच में मिलेंगे देखने से हुआ क्या ये आत्मनिरीक्षण की बात है एक साधक को सोचना ही होता है सबके साथ में होगा बताएंगे एक बार देख लिया तो जान लिया कि कौन है और उसके बाद इच्छा नहीं हुई देखने से मिला क्या न देखने से जो परेशानी हो रही थी इच्छा कर रही थी बार बार और देख लिया तो क्या होगा मैं थोड़ी इनकी पृष्ठभूमि भी बना बता देता हूं ये यहीं रहती हैं अभी ये न्याय दर्शन पढ़ रही हैं तो बहुत लोगों से परिचित हैं ये जानती हैं तो शायद इनके मन में हो कि भाई कौन है ये इच्छा हुई हो या तो उससे मिल क्या गया कि अगले चक्कर शांति से बीत गए यही तो कहा इन्होंने दूसरे चक्कर में देख लिया अब बाद के चक्कर शांति से गुजर गए फिर देखने की इच्छा नहीं की फिर तो देख ही लिया देखने की क्या इच्छा है और अब इसको देखिए आत्मनिरीक्षण कीजिए विश्लेषण कीजिए ये तो एक छोटी घटना है बाकी तरह तरह की घटनाएं हमारे साथ में होंगी इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें पहले चक्कर में इनको देखने की इच्छा थी रोका अपने को दूसरे चक्कर में इन्होंने देख लिया और बस देखा और समाप्त बाकी चक्कर शांति से गुजर गए फिर कोई समस्या नहीं हुई तो देखना उपयोगी हुआ या हानिकारक हुआ उपयोगी हुआ और कोई भाई उपयोगी तो हुआ उपयोगी हुआ ना नहीं कुछ उल्टा लग रहा है इनको दीजिए क्या कह रहे हैं इनका देखना उपयोगी हुआ या हानिकारक हुआ तो बैठिए बैठिए अभी आपसे नहीं अभी एक बिंदु हम चल रहे हैं हम थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं देखिए इसी तरह कुछ बातें समझ में आएंगी जो स्वयं समझते हैं विश्लेषण करते हैं इसी तरह से करेंगे लेकिन कैसे किया जाता है साधक क्या करेगा क्या आत्मनिरीक्षण करेगा इनके बारे में बताएंगे कुछ हाँ बोलिए इनको दीजिए नहीं व्रत संकल्प तो खंडित हुआ तो ये देखना लाभदायक रहा या हानिकारक रहा ये इसलिए हानिकारक कि जो अपराध पहले से लिए वो खंडित हुआ दूसरा विषय मन को चाहता था उस मन की चाहत को मन पूर्ण करें इसलिए फिर वही परिस्थिति आने से भविष्य में भी फिर वही परिस्थिति होगा बैठिए बैठिए बिल्कुल ठीक था इन्होंने आप बताइए देखिए एक बिंदु इन्होंने उत्तर दिया क्या कहा इन्होंने एक मिनट रुकी कि जो संकल्प लिया हमने वो टूटा बात के चक्कर आराम से गुजरे कोई समस्या नहीं थी लेकिन एक व्रत टूटा और आगे फिर भी जब जब कुछ व्रत लिया जाएगा तो संस्कार क्या पड़ेगा कि ठीक है ऐसा कर लो उसके बाद शांति हो जाएगी बताइए माइक ठीक कराइए थोड़ा सा सामने रखिए बैठिए अब देखिए दो स्थितियां बनती हैं कि जैसे पहले चक्र में ये परेशान रही ऐसे ही दूसरे चक्कर में भी परेशान होती तीसरे में भी होती और हो सकता है पूरे पंद्रह मिनट भ्रमण के बेचैनी रहती एक तो ये पक्ष था अगर नहीं देखती तो क्या होता परेशान रहती और देख लिया तो बाकी के भ्रमण में आराम से भ्रमण में मन लग गया बेचैनी समाप्त हो गई हम विषयों के प्रति भी इसी तरह से चलते हैं ये तो एक विषय है और सब तरह के विषय जो भी हमारे सामने आते हैं हमारी इच्छा करती है पूर्ति नहीं होती है तो बेचैनी होती है जब हम संयम करते हैं अपने को नियंत्रित करते हैं बड़ा बेचैनी लगती है खाने का समय नहीं है खाने की इच्छा करके कुछ बन रहा है कुछ आ गया किसी ने दे दिया कि मैं खा लू अगर नहीं खाया तो क्या होगा उस बच्चे का वो कहेगा जी पढ़ाई में ही मन नहीं लगेगा वो ही घूमता रहेगा ये आया है वो आया है माता जी कब देंगी या बड़े भी पढ़ाई भी जाएगी इससे अच्छा है तो खा लो और फिर शांति से पढ़ लो एक ये प्रक्रिया लेकिन अगर इस प्रक्रिया में हम गए ये मूलभूत अंतर है मनोविज्ञान में पाश्चात्य और आधुनिक पाश्चात्य और अपना भारतीय उनका यह कहना है कि विषयों को जितना हम रोकेंगे वो उतना अधिक परेशान करेंगे और दबाते जाएंगे दबाते जाएंगे तो आगे चल करके एकदम से विस्फोट होगा उसमें स्प्रिंग को दबाओगे दबाओगे और बल बढ़ता जाएगा और जैसे ही हटेगा तो वो बहुत तेजी से उभरेगा एकदम जाएगा जिन बच्चों को बहुत दबा के नियंत्रण में रखा जाता है जब वो अकेले होते हैं पढ़ने के लिए गए स्वतंत्र होते हैं पैसा होता है देखने वाला नहीं है तो वो सारी उन चीजों को करते हैं जिसके लिए उनको रोका गया था और उनसे भी ज्यादा करते हैं जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे भी ज्यादा करने लग जाते हैं फिल्में देखना है और है बीड़ी सिगरेट जो भी कुछ चीजें हो सकती हैं इसलिए ऐसे रोकना नहीं चाहिए ठीक है इच्छा हुई विषय की पूर्ति की मन से हट गया दूसरे काम में लग गया लेकिन इसका परिणाम क्या निकलेगा कि बार बार उसी तरह से हम विषयों का सेवन करेंगे और विषयों के सेवन में ही हम शांति को अनुभव करेंगे और प्रत्यक्ष लगता है हमें कि एकदम शांति हो गई दूसरी तरफ भारतीय चिंतन भारतीय अध्यात्म भारतीय मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर गलत विषय है तो उसको तो रोकना ही है अगर हम बार बार ऐसा ही करेंगे तो हम उधर ही जाते जाएंगे और हानि होती जाएगी रोकना है रोकते समय कष्ट होगा लेकिन धीरे धीरे उस पर नियंत्रण आ जाएगा एक प्रयोग आ रहा था वैज्ञानिकों ने किया प्राय कहते हैं कि जब गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए दूसरों पे तो नहीं करें लेकिन कुछ कागज फाड़ लिए तकिए पे घूसे मार लिए तकिए को फेंक दिया ऐसे अपने गुस्से को निकाल देना चाहिए क्योंकि तो किसी मनुष्य पे करेंगे तो दिक्कत होगी यानी कुल मिला के है कि गुस्सा आए तो निकाल दो शांत हो जाएगा और गुस्सा आ रहा है निकला नहीं तो अंदर ही रह जाएगा व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा उनके भी परीक्षण ऐसा होता है विषयों की पूर्ति न होने पर न होने पर अंदर से तो बहुत कामना है बाहर से रोका जा रहा है तो व्यक्ति बेचैन पागल भी हो जाता है मानसिक रोगी हो जाते हैं ये भी देखा जाता है ये उनके लिए होता है जहां व्यक्ति बिना समझे बिना ज्ञान के विषयों को रोकने में लगाए जबरदस्ती लेकिन यदि हमने ज्ञान समझा है अध्यात्म को समझा है कुछ समझ आ गई है हमारे को तो हमारा ये रोकना ज्ञान पूर्वक रोकना कभी मनोरोग को पैदा नहीं करेगा सब पे ये लागू नहीं होता है जो वो कहते हैं कुछ पे अवश्य लागू होता है ज्ञान से अगर हमने समझ रखा है और फिर हम जब रोकते हैं और जो कष्ट होता है वो लाभदायक ही होगा हानिकारक नहीं होगा तो एक वर्ग में उन्होंने प्रयोग किया कि जिनको गुस्सा आता है तो बोले आप अपना गुस्सा निकाल लो किसी भी चीज पे बर्तन पटक दो कांच के ये चीजें फेंक दो तोड़ दो उलट पुलट कर दो जो करना है लात मार दो घुसा मार दो जो करना है निकाल लो अपने गुस्से को शांति होगी दूसरे वर्ग को किया कि आपको कुछ नहीं करना है उनको गुस्सा दिलाया गया ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं वो उनको गुस्सा दिलाया गया आपको कुछ नहीं करना है बड़ी बेचैनी परेशानी वो शांत हो गए जिन्होंने गुस्सा निकाल दिया ये परेशान पहले स्तर पर यह प्रयोग किया गया तो ये परिणाम दिखेगा लेकिन उन्होंने यही प्रयोग उन पर बार बार किया दूसरी तीसरी चौथी बार तो जो गुस्सा निकाल रहे थे आगे चल के उनकी विपरीत स्थिति में गुस्सा करने और गुस्सा निकालने की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई उनकी सहनशीलता कम होती चली गई पहली बार उन्होंने उन स्थितियों में जितनी देर बाद में गुस्सा किया था गुस्सा निकाला था अगली बारों में वो स्थितियां आने पर उन्होंने शीघ्र ही प्रतिक्रिया की शीघ्र ही अपना गुस्सा निकाला सहन नहीं हुआ उनको उनकी सहन क्षमता कम हुई और जो दूसरा वर्ग था जो पहली बार तो बेचैन रहा था दिक्कत हुई थी दूसरी बार जब हुआ उनको फिर उनको गुस्सा दिलाया गया तो दूसरी बार उनको बेचैनी कम हुई परेशानी कम हुई उनकी सहन शक्ति बढ़ी और आगे चल के चल के वो और बढ़ती चली गई योग दर्शन में व्यास भाष्य में ये बात लिखी है कि जब ऐसी स्थितियां आती हैं विषयों की तरफ आकर्षण होता है तो व्यक्ति इंद्रियों की जब शांति होती है उसमें सुख अनुभव करता है लेकिन ये प्रक्रिया वो है जो हमारे को भिन्न तरफ मुक्ति और साधना के विपरीत पथ पर ले जाती है परीक्षण के लिए ज्ञान पूर्वक समझने के लिए ये किया जाता है वहां तक ठीक है कि कुछ बातें हम सुनकर के समझ नहीं पा रहे हैं जान तो गए जब तक उन विषयों का भोग नहीं करेंगे सेवन नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है वहां केवल समझने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है ज्ञान पूर्वक और जो ज्ञानवान है वो थोड़े से में समझ जाएगा और उससे हट जाएगा विरत हो जाएगा लेकिन जब हम किसी भी चीज को रोकते हैं ऐसे ज्ञान पूर्वक हमें पता है कि यह हानिकारक है हमें रोकना है प्रयोजन पूर्वक करते हैं तो लाभदायक ही होता है लाभदायक ही होता है तो जैसा इनके साथ में घटा तो जो जिनको ये लगता है कि लाभदायक है अगर इसी प्रक्रिया में चलेंगे तो साधना में आगे नहीं बढ़े पाएंगे हम क्योंकि हर जगह यही करने लगेंगे और यही तो करते रहे हम साधना में संयम में यही होता है भले ही इनको बेचैनी होती होता है कई बार बहुत बेचैनी हो रही है ना कार्यालय में जाने का मन कर रहा है ना ये कर रहा है अपने को रोका है कोई बात नहीं कार्यालय नहीं गए कार्य कोई नहीं हुआ कोई बात नहीं छूट गया छूट गया कोई बात नहीं है आध्यात्मिक व्यक्ति को लगेगा नहीं ये चीज मेरी आज सद रही है तो ये मेरे लिए बड़ी उपयोगिता है कोई बात नहीं कोई कार्य छूट गया आगे कर लूंगा कुछ पैसे कम मिलेंगे कोई बात नहीं एक दिन दुकान बंद रह जाएगी कोई बात नहीं कुछ घंटे बंद रह जाएगी कोई बात नहीं क्योंकि उसके लिए लाभ हानि अलग तरह की हो गई तो जब जब हम अपने को ऐसे रोकते हैं नियंत्रित करते हैं बेचैनी और परेशानी लगेगी बिच्छू के डंक की तरह से लगेगा इतनी बेचैनी लगेगी परेशान हो जाएंगे लेकिन अगर उस समय हम अपने को कुछ शांत रख सकें श्वास पे केंद्रित कर लें परमात्मा का स्मरण कर लें शवासन में चले जाएं अथवा किसी और कार्य में लग जाएं वो चीज निकल जाएगी लेकिन वो एक हमारे को बल दे के जाएगी हमारे मन को बल दे करके जाएगी और वो आगे हमारी साधना में काम देगा और जब हम ऐसे छोड़ते हैं तो अपने मन को दुर्बल करते हैं शांति तो हो गई लेकिन मन को दुर्बल कर दिया हमने जैसा पहले था वैसा ही क्या बल नहीं प्राप्त हुआ इससे जितना भी किया इन्होंने एक चक्कर तक भी नियंत्रण किया तो उसका भी लाभ है वो व्यर्थ नहीं हुआ है नहीं तो ये एक चक्कर तक भी नहीं शुरू में ही मन में आया और देख लेते हैं एक चक्कर तक तो रोका है उसका लाभ मिलेगा कोई बात नहीं बाद में नहीं मिला जितना भी हम करेंगे उसका लाभ हमारे को मिलता है आप लोग भी अनुभव करेंगे अपने आप को देखिए निरीक्षण कीजिए आत्मनिरीक्षण कीजिए ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको दिन भर में मिलेंगी कल भी मिलेंगी यद्यपि यहां विषयों से आप बहुत दूर हैं सांसारिक स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहां भी बहुत सारी घटनाएं आपको जीवन में दिन भर में मिल जाएंगी उनमें जहां जहां आपको लगे अपने को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि उससे मेरे में क्या परिवर्तन आता है अच्छा बुरा क्या भी लगता है देखिए परीक्षण कीजिए इसीलिए तो आप यहां पर आए हैं उसमें समय लगाइए तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं ओम